हजरत इबन उमर रजी अल्लाह तु से रिवायत है उन्होंने फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ने सोने की अंगूठी बनवाई और उसका नगीना हथेली की तरफ रखा लोगों ने भी सोने की अंगूठियां बनवा ली फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ने वो अंगूठी फेंक दी और फरमाया अब मैं इसे कभी नहीं पहनूंगा तो लोगों ने भी अपनी अंगूठिया फेंक दी ने नसाई हदीस नंबर पांच हजार दो सौ सत्रह